श्रीमद गीता अष्टादश अध्याय छाछठ नंबर के श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था श्लोकार्थ हो गया था जिसमें गीता शास्त्र का तात्पर्य किस्म है कर्म में है या ज्ञान में है ये विषय को लेकर विचार है तो मीमांसक कहते हैं कर्म में तात्पर्य है कर्म से मोक्ष मोक्ष कैसे हो क्योंकि सबकी कामना होती है आत्यंतिक दुख की निवृत्ति आन परमानंद की प्राप्ति सब चाहते हैं दुख तो की हमेशा के लिए निवृत्ति हो और सुख की उपलब्धि हो तो सुख की उपलब्धि कैसे मोक्ष तो मीमांसा कहते हैं कर्म से काम्य कर्म नहीं करता भावी इष्ट शरीर होना संभव नहीं है निषिद्ध कर्म नहीं करता शास्त्र में जो प्रतिषेध किया है तो भावी अनिष्ट से भी रोने की संभव तो साधन नहीं है और प्रारब्ध यही भोग करके समाप्त कर देता है इसी शरीर में रह गए पूर्व पाप जितने भी रह गए पूर्व कर्म रह गए संचित कर्म तो नित्य कर्म करते समय परिश्रम होता है तजनित दुख होगा उस दुख से भोगा जाता है पूर्व कर्म नहीं रहे आगे शरीर बनने के लिए और वर्तमान में कोई कर्म है नहीं आगे शरीर बनाने का तो नित्य कर्म करते रहे जीवन भर दुरित निवारण के लिए और अन्य कर्म न करे तो अनायास मुक्ति है कर्म से मुक्ति है यह मीमांसकों का मत है सिद्धांत है किंतु ज्ञानी मैंने वेदांति बोलते नहीं ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है ज्ञान से मुक्ति है यदि पूर्वकृत कर्म का नित्य कर्म नाश करता भी हो नित्य कर्म जन्य जो कष्ट है वो नाश माना जाए पुण्य कर्म का नाश कैसे होगा कृत कर्म का नाश कैसे होगा और किया हुआ कर्म फल भोग के बिना नाश होना भी संभव नहीं है एकमात्र ज्ञान से नाश हो सकता है और कोई उपाय नहीं तो ज्ञान से मोक्ष मानते हैं भगवान इस गीता के तात्पर्य यही है ये सिद्धांत कह रहे हैं उसमें आपस में विचार चल रहा है <clears throat> ठीक है मैं कहते आगे उक्त विभाग अयोग्य फणित वाक नित्य कर्म काम्य कर्म का विभाग नहीं हो सकता पूर्व भाष्य के अंतिम में कहा था अग्निहोत्रादि नाम एवं कर्म स्वरूपा विषय तो नित्य कर्म हो चाहे काम्य कर्म हो कर्म स्वरूप कर्म का स्वरूप तो एक ही है चाहे काम्य अग्निहोत्र करे चाहे नित्य अग्निहोत्र करे स्वरूप तो एक ही है साधन एक ही है तो ये पूर्व भाष्य का अंतिम में कहा था अग्निहोत्रादि नाम एवं कर्म स्वरूप अविशेष है कर्म का स्वरूप समानता है दोनों में अनुष्ठान आयास दुख मात्र रुक तो नित्य कर्म होगा अग्निहोत्र आदि वो तो कर्म करते समय परिश्रम जन्य दुख से ही वो भी नाश होगा पूर्व पाप को भी नाश करेगा वो भी स्वतः नष्ट हो जाएगा उसका फल है ही नहीं नित्य कर्म फल है ही नहीं ऐसा मानना और दूसरी बात काम्यानाम से और काम्य कर्म वही अग्निहोत्र जब काम्य रूप में करता है स्थिति में तो स्वर्गादि महाफलत्व स्वर्गादि जो महान फल देने वाला होना कर्म के स्वरूप विशेषता में दोनों समान है काम में करो या नित्य करो तो एक का फल ऐसा मानना एक का फल दिए बिना नाश हो जाना मानना तो अंग इति कर्तव्य कर्तव्यता आधिक्य तो असत ही हाँ अंग में विशेषता हो कुछ ज्यादा अंग होता हो उसका काम के समान है अथवा इति कर्तव्यता ज्यादा हो तब तो हो भी सके वो भी नहीं है हाँ, अंग विशेष अंग विशेष नहीं इति कर्तव्यता विशेष होने तो पर भी महाफल मानना उसका और इसका फल नहीं मानना तो असत्य फल कामित्व है केवल फल कामित्व है एक बार फल कामित्व नहीं है और एक बार फल का वित्त मात्र से स्वर्ग आदि विशेष फल मिलता है कहने कल्पना नहीं की जा सकती उनकी तो इसलिए काम्य कर्म का यदि फल है तो नित्य कर्म का भी फल है यही सिद्धांत कह रहे थे इसी की टीका है उक्त विभाग अयोग्य का ये दो प्रकार के विभाग तो हो नहीं पाएगा कर्म के स्वरूप समान है तो यह तस्मात न नित्यानाम कर्मणाम अधिष्ठ फलाभाव अपराजित थे वास्तव में कहा था नित्य इसी हेतु से कहते हैं कि नित्य कर्म का अदृष्ट फल का अभाव है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता अदृष्ट फल है उसका भी जैसे काम्य कर्म का अदृष्ट फल है स्वर्ग आदि फल है इस प्रकार नित्य कर्म का भी फल है तो जो फल है तो फल भोगेगा फिर शरीर प्राप्त होगा फल भोगने के कहां से मोक्ष होगा इस सिद्धांत का कहना है टीका में कहते हैं काम्यवत नित्यानाम आदि अदृष्ट फलवत्व है दुरित निवृत्तत्व आयोगात तादर्थे न आत्मविद्या अभ्युगंतव्य इत्या सिद्धांत बोलते हैं देखो जैसे काम में फल काम्य कर्म का फल स्वर्ग आदि माना है आपने काम्य आदि फल काम्यवत नित्याराम जो नित्य अग्निहोत्र आदि है नित्य कर्म है उसका भी पितृलोक आदि अदृश्य फल होते मैंने मतलब स्वर्गलोक आदि अदृष्ट फल मान फलवत फल है मानना पड़ेगा उसका भी फल है मानना होगा दुरित निवृत्ति निवृत्त तत्व हो जाता आप कहते हो नित्य कर्म क्या करता है पूर्व पाप का नाश करता है ये नहीं हो पाएगा उसका फल है अपना फल है क्या है स्वर्ग आदि जैसे काम्य का फल है उसी प्रकार नित्य कर्म का फल है स्वर्ग आदि सिद्ध हो गया होने पर केवल दुर्वृत्त निवृत्ति के पूर्वकृत पाप की निवृत्ति के लिए नित्य कर्म हो नहीं पाया तादर्थ है ना आत्मविद्या दुर्वृत्त निवृत्ति के लिए पाप निवृत्ति के लिए क्या चाहिए आत्मविद्या चाहिए आत्मज्ञान चाहिए आत्मज्ञान से होगा पूर्वकृत पापों का नाश आत्मज्ञान से होगा तादर्थ है दुर्त निवृत्ति अर्थत्व है दुर्त निवृत्ति की लेकर आत्मविद्या अवगत आत्मज्ञान को ही स्वीकार करना पड़ेगा मानना पड़ेगा उससे से मोक्ष होगा ये सिद्धांत कर अतश्य इत्यादि भाषण कहा था अतश्य अविद्यापूर्वक से कर्म हो जो अज्ञान पूर्वक जो कर्म होता है आत्मज्ञान काल में कर्म होना संभव नहीं है अतश्य अविद्यापूर्वक से अविद्यापूर्वक जो कर्म होता है अज्ञान पूर्वक कर्म विद्या एवं उस कर्म का नाश विद्या के द्वारा ही होगा सुभाषुभ से कर्म सुभाषुभ कोई भी कर्म हो विद्यापूर्वक होने वाले जो कर्म है सुभाषुभ कर्म चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म जो भी हो अज्ञान काल में होता है कर्म देहादि में आत्मबुद्धिपूर्वक होता है अज्ञान काल की बात है वो सुभाषुभ से कर्म शुभाशुभ शुभा कर्मणा क्षय कारण अशेषतो क्षय कारण विद्या एवं मानो करना संपूर्ण रूप से जो दो प्रकार के कर्म है शुभाशुभ कर्म अविद्या के अविद्या काल में होने वाले कर्म का नाश करने वाला कौन होता है अभिज्ञानी है विद्या एवं आत्मज्ञानी है वो न नित्य कर्म अनुष्ठान में भाषिकार कहते हैं नित्य कर्म का अनुष्ठान कर्म का नाश नहीं हो सकता नहीं कर सकता पूर्वकृत पाप आदि का नाश नहीं कर सकता एक वो उसका नाश का कारण तो यानी शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो नित्य नित्य काम में तो कोई भी कर्म हो सारे का नाश करने वाला तो एक ही आत्मज्ञान देहादि में चित्त शुद्धि के लिए तो नित्य कर्म चाहिए चित्त शुद्धि तो, हाँ। तो सिद्धांत फल मानते हैं ना मीमांसक नहीं मानते नित्य कर्म का फल वो तो पूर्वकृत पापों का नाशक मानते हो स्वतः फल नहीं मानते हो नित्य कर्म फल नहीं कहते हो ये कहा है अविद्या काम जमी टीका है मैं ठीक है शुभाशुभात्मक कर्म दो प्रकार के कर्म होता है एक शुभ कर्म एक अशुभ कर्म दो है सर्व सर्वम अविद्यापूर्वक सारे के सारे कर्म अविद्यापूर्वक ही होता है माने शरीर आज में आत्मबुद्धि अविद्याकालीन है आत्मबुद्धि के बिना कोई कर्म नहीं कर सकता मन वर्णाश्रम का आरोप किए बिना कोई कर्म करने से शुभ कर्म चाहे अशुभ कर्म कोई भी हो वर्णाश्रम किसका है शरीर का धर्म है तत्काल में अज्ञान है शुभाशुभात्मक कर्म शुभ स्वरूप चाहे अशुभ कर्म का वो कर्म सर्वम सबके सब कर्म अविद्या पूर्वकम से पूर्वादि बोलता है सबके सब यदि अभी अज्ञान पूर्वक ही है तो अशेष तरी क्षय कारण विद्या यदि उपपत्ति थे सिद्धांत बोल रहे शुभाशुभ कर्म यदि अविद्या पूर्वक आना जाए स्थिति में क्या होगा अशेष ही एक भी न छूटे तब क्षय कारण उसका नाश का कर्म का नाश का कारण क्या होगा चाहे शुभ कर्म अशुभ कर्म विद्या यदि उपपत्ति थे विद्या ही है ऐसा सिद्धांत कहते कहते हैं न तो सर्वोपकर्म अविद्यापूर्व कर्म यदि सबके से शुभाशुभ कर्म का नाश ज्ञान कर सकता हो तब तो मान लिया जाए ज्ञान शुभाशुभ कर्म का नाशक मान जाता माना जाता किंतु सभी कर्मों का अविद्यापूर्व करना ठीक नहीं है माने जो अशुभ कर्म होगा तो अविद्यापूर्वक हो गया किंतु शुभ कर्म जो होगा कैसे अविद्यापूर्वक बोलेंगे अज्ञानपूर्वक कैसे बोलेंगे जैसे पूर्वादी का कहना मीमांसा कर कहा है अविद्यापूर्वकम न तो सर्वम कर्म सारे सारे कर्म अविद्यापूर्वक नहीं कहा जा सकता यह शंका आगे तो कहा अविद्या भाष्य में कहा अविद्या काम बीजम भी सर्वम एव कर्म देखो कर्म का निमित्त कारण दो है अविद्या और अविद्याजन इच्छा अज्ञान आत्मा का अपना स्वरूप का ज्ञान है शरीर में आत्मबुद्धि है उसी का तत्त विषयों की इच्छा हो रही सुभाषित कर्म करने की इच्छा हो गई अविद्या और काम मन इच्छा ये दो बीज वाले होते हैं कर्म दो ये बीज है कर्मों का बीज अविद्या और काम यही है वो जब तक रहेगा तब तक कर्म होगा अविद्या काम बीज हमेशा कर्म कर्म एक कहते हैं तत्र ही शब्द द्योतिताम युक्तिम दर्शती भाष्य में भाष्यकार ने ही लगा दिया अविद्या काम बीजम ही ही शब्द के द्वारा प्रकाशित जो युक्ति है वही दिखाते हैं तथा कहा तथा च उपपादितम हमने पहले भी कई स्थानों पर कहा भाष्यकार बोलते हैं क्या कहा अविद्या काम बीजम ही सर्व कर्म चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो हाँ, अविद्या जन इच्छा तत्कर्म करने की जो इच्छा ये कब होगा अज्ञान काल में ये दो बीज हैं अविद्या और काम सारे कर्म का बीज चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो हमने ये बातें पहले सिद्ध किया था स्थान पर कहा आगे टीका में कहते इत अविद्वत विषम करा आगे एक हेतु इस हेतु से भी अज्ञानी को विषय करता है कर्म ज्ञानी को नहीं करता आत्मविद्ता को कर्म विषय नहीं कर सकता क्यों आत्मज्ञान काल में देहादि अभिमान नहीं है वर्णाश्रम अभिमान नहीं है देहादि में अभिमान नहीं है यदि वर्णाश्रम में कैसे कर्म करेगा क्यों कर्म सब वर्ण घटित है नित्य इत्यादि कर्म कैसे आश्रम घटित है वर्ण घटित है देहाभिमान करके वर्ण का आरोप करके आश्रम का आरोप कर तब कर्म होगा अविद्या काम बीज वाला होता कर्म इतस् अविद्युत विषम कर्म इस हेतु से भी आगे कहे जाने वाला हेतु है इससे भी कहते हैं अज्ञानी को विषय करता है कर्म अविद्वान विषय इससे कर्म जिस कर्म का विषय क्या होगा अज्ञानी होगा ऐसा कर्म का अविद्वत कहा था भाष्य कहा अविद्व विषय कर्म अज्ञानी भी विषय करता है कर्म विद्वत विषयाच तो सर्वकर्म संन्यास पूर्व का ज्ञान निष्ठा तो ज्ञानी को विषय करने कौन है सभी कर्म का संन्यास पूर्वक पूर्वक ज्ञान निष्ठा ही उसके लिए उसको विषय कर ज्ञान निष्ठा विद्वान को विषय करती है ज्ञान स्थिति ठीक तो भी कहते हैं अधिकारी भेदेना निष्ठा ना <clears throat> निष्ठाद्वयम इत्यत्र दो प्रकार की निष्ठा हमने पहले बताई है अधिकारी भेद के लोकेश बिंदुता निष्ठा ये कहा हुआ तृतीय अध्यक्ष में कहा है निष्ठा द्वयम अधिकारी भेद से दो निष्ठा है यदि ज्ञान स्थिति में है तो ज्ञान निष्ठा यदि ज्ञान स्थिति नहीं है तो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म निष्ठा निष्ठा द्वय तत्र वाक्योपक्रम उपक्रम अनुकूल है वाक्य का उपक्रम तृतीय अध्याय की बात ला रहे बोल शुरू की बात बोल रहे हैं कि उसका अनुकूल करते हुए आत्मनि कर्तृत्व कर्मत्व से आरोपयन कर्म कब होता है आत्मा में कर्तृत्व और कर्मत्व दो का आरोप करके मेरा कर्म है मैं करता हूं यह आरोप करेगा अज्ञान क्या करता है आत्मा में मैं करता हूं इस कर्म का ये मेरा कर्म है हम तो ममत्व लेकर के कर्म करता है आरोपयन न जानाती आत्मा यदि आत्मा को नहीं जानता है कहा हुआ है बताता कर्म अज्ञान मूलवती दर्शितम कर्म जो होता है अज्ञान मूलक ही है उसका मूल कारण अज्ञान है आत्मा का अज्ञान ये भगवान ने दिखाया है ये कहा वह तो न जाने तो नाय महंती नाने थे वहां कर्ता भी दिखाया कर्म भी दिखाया है यह नम व्यक्ति हंतारम मैं इसको मारता हूं ऐसे जानता हो कर्ता मानता हो अपने को व्यक्ति हंतारम यश्चन मन दे हतम मैं मर गया इससे ऐसा मानता हूं मैंने अपने को कर्म दिखाया दूसरे को कर्ता दिखाया पहले वाले को अपने को कर्ता दिखाया दूसरे को कर्म दिखाया बहुत बीजा नहीं तो नाय तो मानते थे तिप्त अध्याय बोल के आए भगवान ये कहा हुआ है वह अज्ञान अज्ञानकालीन बात है कौन सी काल अज्ञान काल में ऐसा मानता है क्या मानता है मैं इसको मारने वाला हूं मैं इससे मरने वाला हूं अपने को मारने वाला मरने वाला ऐसा सोचता है मैंने मारण कर्म अपने में आरोप करता है मारण का कर्ता ये आरोप करता मैं मारता हूं इसको मैं इससे मरता हूं दोनों का कल्पना करता है अज्ञान काल अज्ञान का है अज्ञान कालीन बात है कहा मैंने अज्ञानी को विषय ऐसा दिखाया और ज्ञानी के लिए कहते आगे आत्मा यथा तत्व जानन आत्मा का जैसा स्वरूप है उस प्रकार जानता हुआ हम्म। विशेष जो आत्मा है उसको जानता हुआ कर्तृत्व आदि रहित तो बहुत ही ये भी भगवान ने कहा गीता की दिव्य कर्मत्व कर्मत्वादि धर्म से रहित हो जाता है उसका अनुभव यथार्थ रूप से आत्मा को जानता हो तो कर्तृत्व आदि धर्म से रहित हो जाता है भगवती गुरुता भगवता कर्म संन्यास ज्ञानवतो अधिकार तो सोचाई थी ज्ञानी के लिए क्या सूचना दी भगवान ने कर्म का संन्यास कर्म का त्याग सूचित किया है मेरे में कर्म नहीं है और कर्म करने वाला कर्ता भी मैं नहीं हूं इस भावना में जो पहुंचा होगा सूचित किया कहा किया द्वितीय अध्याय में बेरा विनाशनम नित्यम एनम व्ययम कथम से पार्थ कम भाव ये ज्ञान ज्ञान निष्ठा की बात है ठीक है हमें कहते हैं आगे निष्ठा द्वय द्वयम अधिकारी भेदन बोधव्यम ये दो प्रकार की निष्ठा जो है जो स्थिति कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा अधिकारी भेद से जानना चाहिए पूर्वावस्था में कर्मनिष्ठा कर्म किए बिना अंतकरण आदि की शुद्धि नहीं होगी अंतकरण शुद्धि हो बिना तो विश्व से वैराग्य नहीं होगा विश्व से वैराग्य न होने पर वेदांत सर्वण आदि की इच्छा नहीं होगी वेदांत सर्वण आदि किए बिना सर्वण मन निर्ध्यासन के बिना ज्ञान नहीं होगा तो परंपरा से कारण कर्म होते हैं निष्काम भाव से किया जाएगा कर्म साक्षात नहीं है तो ये ज्ञान ये कर्मनिष्ठा है काम्य कर्म के लिए कहा निष्काम कर्म और उत्तर काल में ज्ञान निष्ठा है ये कहते हैं निष्ठा दोषम तो अधिकारी भेद है बोधव्यम दोनों प्रकार की निष्ठा अधिकारी भेद एक ही के लिए एक ही काल में दोनों नहीं है सहसमुच्चय नहीं है क्रम समुच्चय है दोनों में पूर्व में कर्म उत्तर का ज्ञान यह नहीं कि ज्ञान भी हो कर्म भी साथ साथ ये नहीं कहा मीमांस एक पक्ष है ज्ञान कर्म समुच्चयवादी भक्ति प्रपंच आदि कोई आ नहीं है वो कर्म समुच्चय मानते हैं माने ज्ञान होने के बाद भी कर्म करना चाहिए क्यों यावत जीवत श्रुति है यावत जीवन अग्रतर जुहत बोलती है श्रुति तो जीवन भर के लिए है वो तो ज्ञान होने पर छोड़ नहीं सकता इसलिए दोनों करना चाहिए सम समुच्चय भाष्यकार कहते नहीं नहीं कर्म समुच्चय है पहले कर्म बाद में ज्ञान तो है किंतु ज्ञान होने के बाद कर्म होना संभव नहीं क्यों कर्म होता है देहाभिमान पूर्वक ज्ञान होता है देहाभिमान को बाध करके दोनों का एक साथ होना संभव ही नहीं है ऐसी चर्चा है तो यहां कह रहे हैं ज्ञान निष्ठा निष्ठा है जो कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा दो प्रकार की निष्ठा जो तृतीय अध्याय आदि में कहा अथवा द्वितीय अध्याय में बताया भिन्न भिन्न स्थान में है वह दोनों अधिकारी भेद से जानना चाहिए समझना चाहिए इत्यत्र इसी वाक्य में ही वाक्यांतर महा अन्य भी वाक्य है ज्ञान योग अनुसार ज्ञान आम कर्म योग तृतीय अध्याय में कहा था लोकेश्वर द्विता निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योग अनुसार ज्ञान आम कर्म योग दो प्रकार की स्थिति मैंने बताई पहले सृष्टि के पूर्व काल में अथवा द्वितीय अध्याय में द्वितीय अध्याय में कर्म ज्ञान दोनों है इस काम कर्म की चर्चा है यह साथ विहिता सांख्य बुद्धि योग इत्यादि शब्द से कहा हुआ है अभी तक तो मैं सांख्यों के बारे में ज्ञानियों के बारे में बोल रहा था अब बुद्धियोग में सुनो बुद्धियोग है बुद्धिपूर्वक कर्म निष्काम कर्म यही है निष्काम अधिकार को जानना चाहिए कहा था यही भाष्य में उत्तर में दे रहे थे ज्ञान विज्ञान सांज्ञान कर्म विज्ञान कहा था ठीक है मैं कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयत ये वाक्य है अज्ञान कर्म से गिना है ना भाष्य में दिया हुआ उसमें ये वाक्य आता है न बुद्धि भेदम जनयत इत्यादि है न बुद्धि भेदम जरत अज्ञान कर्म नाम जोश सर्वकर्माणी विद्वान समाचार तृतीय तेज बात थी उनके बुद्धि को विचलित न करे समझदार व्यक्ति ज्ञानी कि अरे कहा कर्म के चक्कर में पड़े हो अभी ज्ञान की स्थिति में वो नहीं है वहीं से उनकी आगे की गति होगी और बुद्धि में भेद पैदा न कर जाए स्वयं करता हुआ उनको आए हाँ अच्छा काम कर रहे हो अच्छा ऐसा लगा उस काल में जब कर्म करते करते उसका अंतकर शुद्धि हो जाए उसके बाद में ज्ञान निष्ठा की चर्चा करना उससे पहले से ज्ञानी मत बनाना किसी को और अवनति होने की संभावना है ये कहा हुआ है वहां न बुद्धि भेदम जन चैत्र से अविद्या मूलतम कर्मण सोचता न बुद्धि भेदम जने वाले अज्ञान मूलक कर्म ही दिखा अज्ञानी कर्म का रहा दिखता वहां तो अविद्या मूलतम कर्मण सोचता भगवता मैंने अविद्या मूलक यह कर्म अज्ञान पूर्वक ही कर्म होता है सूचित करते हुए भगवान ने कर्मनिष्ठा अविद्युत विषय अनुमोदित कर्मनिष्ठा जो है अज्ञानी का विषय करने वाले अनुमोदन किया भगवान ने क्या किया भगवान ने अनुमोदन किया जन्म बुद्धि अज्ञान इत्यादि के द्वारा अज्ञान कर्मश्रीनाम इत्यादि कहा था ठीक है मतलब यदुक्तम विद्युत विषय या संन्यास पूर्व ज्ञानिष्ठा तत्र विद्युत महाबाह गुणकर्म विभाग इत्यादि बोल रहा है जो कहा था विद्वत विषय संन्यास को ज्ञान निष्ठा कहा था भगवान के है ज्ञान में स्थिति रहना है उसको तत्व उस विषय में तत्व तत्विद हो गुण कर्म विभाग गुणा गुणेश वक्तंत तत्वानुसजते थे ये भी तृतीय अध्याय में कहा था जो तत्ववेत्ता होगा ना तत्ववेत्ता आत्मवेत्ता जो आत्मवेत्ता होगा हे महाभाव है अर्जुन गुण कर्म गुण और कर्म का जो विभाग जानता हो तो वो जानने वाला क्या करता है गुणागुण से वर्तंत ये जो इंद्रिया सत्वादि गुण के कार्य हैं सत्व गुण के कार्य में आते हैं इंद्रिया एक एक अंश से है सत्वादि गुण के कार्य है और जो विषय है वो तम गुण के कार्य है गुण ही गुण में रहते ऐसा समझता है ज्ञानी माने इंद्रिया गुण मान अपीकृत अवस्था के जो पंचभूत के एक एक अंश से बने हुए हैं ये सत्व अंश से बने हैं कुछ रजो अंश से बने हुए हैं और जो विषय होते हैं रूपाधि जो शब्द आदि विषय होते हैं तम गुण के कार्य हो हाँ। सम्मिलित करके बनाए हुआ पंचीकृत अवस्था के हैं वो तो वो एक गुण दूसरे गुण में रह रहे हैं मैं उसमें नहीं हूं रूपाधि दर्शन करने वाला इंद्रिया है मैं नहीं हूं ऐसा करके रहता है ज्ञानी तो महाभाव गुणकर्म गुण इस वर्तन थे तो तत्वान सत्य थे उनमें गुण विषय में आसक्ति नहीं होगी उसकी इत्यादि वाक्य में वही कहा तत्वित इत्यादि शब्द कहा था गुणा गुण से वर्तते थे तत्वित महाभाव उसी का अर्थ है अर्थ से पढ़ा जाए तत्ववित्त गुणागुण से वर्तनता इत्यादि तत्वविद्ता तो गुण ही गुण में रहते हैं करके रहते हैं किसमें रहते हैं किस भाव में है वो गुण ही गुण में रहते हैं मैं नहीं हूं सबराज विषय में मैं नहीं हूं ऐसा समझता है कहा था तत्र वाक्यांतर पढ़ते उसे अन्य वाक्य भी है ज्ञानी के विषय में कहा सर्वकर्माणी मनसा संन्यास शास्त्र सुखम बसे नवद्वारे पूरे देही प्रपन्न कार्य पंचम अध्याय में जाकर बोला ये क्या सारे कर्म में मन से ही त्याग करके शरीर में तो कहां कर्म होने दे मन से ही त्याग दिया शरीर तक आने भी नहीं दिया कर्म को सर्वकर्माणी जितने भी कर्म थे शुभाशुभ कर्म सबको त्याग करना संयस्य त्याग करके सुखम सुख प्रभु बसी बने जो आत्मा है आस्ते पुत्र आस्ते कहाँ रहता है तो कहा नवद्वारे पूरे नव दरवाजा रूपी जो पूरे शरीर है इसी में रहता है क्षेत्र वाला है इस शरीर में नैव पूर्व न न करता हुआ न कराता हुआ कर, करता भी नहीं वो दूसरे से करवाता भी नहीं ऐसा रहता है आत्मा पंचम अध्याय कहा था इसको तत्व तो महाभाव गुणकर विभाग विस्तार है वो ठीक टीका में कहते विदुषो ज्ञान निष्ठा इतर पांचकम वाक्यांतर रहा ज्ञानी में ज्ञानी का तो ज्ञान निष्ठा ही है क्या है ज्ञान में स्थिति है उसके आत्मज्ञान में इसी विषय में पंचम अध्याय को होने वाले को पांचवे कहा जाता है अध्यात्मा से ठय प्रत्यय लगा पांचवे के पांचवे का वाक्य अंतर अन्य वाक्य भी है पंचम अध्याय के वाक्य पहले अभी संध्यास थे सुगम वासी पंचम अध्याय था अन्य वाक्य भी उसी के देते हैं ज्ञानी का तो ज्ञान निष्ठा ही है इस कार्य वो किंचित इत्यादि आया नैव किंचित करोगे थी तत्व युक्तो मंडित तत्व पश्चिम श्रवण प्रश्न चिग्रहण नशन कथन स्वपन शसन प्रलपन विसर्जन किरण निवेश निवेश भी इंद्रिया इंद्रियार्थेशु वर्तन ले जा रहे उसी के बाद नैव इत्यादि कहा रहे अब ज्ञानी तो नैव किंचित करोगे थी ऐसा रहता है और अज्ञानी अहम करोगी भाव में रहता अर्थ से आया जो देहात्म बुद्धि वाला अहम करो में आ जाता है अर्थ से पढ़ते हैं इस वाक्य को कहा गई है तत्र अर्थ सिद्धम अर्थम कथाई गई उसी में ही नैव किंचित करो विधि करके ज्ञानी की भावना है आत्मविद्ता की भावना इसलिए तो अर्थ से सिद्ध क्या आया अज्ञानी कर्म करता है करो में भावना होगी उसके क्या हाँ, होगा हम करो में बोलेगा वो देहादि में आत्मबुद्धि करके होता है कहा अज्ञान भाष्य में अर्थात अज्ञा करो भी थी अज्ञानी मानता है मैं करो भी मैं करता हूं ऐसा मानता है ठीक है कहते हैं मन्यते संबंध करो भी थी मन्यते भाष्य में अज्ञा करो भी थी मन्यते ऐसा मानता है अर्थ आएगा संबंध होगा कहा अज्ञा से चित्त शुद्धर्थम कर्म अज्ञानी के लिए कर्म है क्यों अंतकर्म की शुद्धि नहीं अभी विषयों से विषय में आसक्ति है अंतकरण शुद्ध होने का परिणाम होगा विषय शक्ति से रहित हो जाना अज्ञा चित्त शुद्धार्थम कर्म अज्ञानी को चित्त शुद्धि के लिए कर्म है निष्काम कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म काम्य कर्म नहीं वो कर्म होता है शुद्ध चित्त से कर्म संन्यास शुद्ध चित्त वाले का कर्म का त्याग माने ज्ञानी है शुद्ध चित्त वाला ज्ञानी है उसका कर्म का त्याग अज्ञान जब तक अज्ञान है माने देहादि में विषय आदि आसक्ति है तब तक निष्काम कर्म शक्ति समाप्त हो गया तो चित्त शुद्ध हो गया समझना मनोही दिवतम प्रोक्तम शुद्धम ताशुद्धम एवं अशुद्धम काम संकल्प शुद्धम काम विवर्जित ऐसा कहा गया है मन एक है प्रकार दो है उसके मनोही दिविधम प्रोक्तम मन को दो प्रकार कहा गया है शुद्धम अशुद्ध शुद्ध में शुद्ध मन है अशुद्ध मन है हमारा ही मन गति दो है इसकी मनोही दिविधम प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्ध शुद्ध और अशुद्ध अशुद्धम काम काम्यंत कामा विषया यदि विषयों की चिंतन करता हो तो मन अशुद्ध है अशुद्धम काम संकल्प यदि विषयों की चिंता काम मनवा काम्यंत कामा विषय विषय की चिंतन करता हो यदि तो समझना मन अशुद्ध है <clears throat> शुद्धम काम विवर्जितम शुद्ध मन का पहचान किया है विषय की आसक्ति से रहित ऐसा आया है तो यहां यही बोलते हैं अज्ञा चित्त शुद्धम करना है जो अज्ञानी है उसके लिए चित्त शुद्धि के लिए अंतकर्म शुद्धि के लिए कर्म है चित्त शुद्धि हुए बिना माने विषयों का से वैराग्य नहीं आएगा वैराग्य एक साधन है विषयों से वैराग्य हो तो अब आप साधन चतुष्ट संपन्न नहीं हो पाएंगे विवेक वैराग्य समाधान संपत्ति मुख्या चार साधन चाहिए साधक के पास वेदांत के जो अधिकारी होगा अपने अधिकारी को चार साधन चाहिए विवेक नित्य अनित्य वस्तु विवेक होना चाहिए नित्य क्या है अनित्य क्या है इतना पृथक करना अलग करने की क्षमता आनी चाहिए और वैराग्य विषयों से वैराग्य जब तक रहो तब तक अंतर्मुखी साधना कर नहीं सकता हो विषयों से वैराग्य होना चाहिए दूसरे साधन तीसरा है समाधि सर्व संपत्ति जो काम क्रोध लोग मोहम्मद मात्सर्य बैठे हैं हमारे अंतकरण में उसके निवृत्ति के लिए समाधि समाधम उपरती तितिक्षा श्रद्धा समाधान सदगुण चाहिए छह दुर्गुणों को हटाने के लिए आगे बुभुक्षा का अभाव होना चाहिए मुमुक्ष आना चाहिए मुक्त इच्छा मोक्ष त्यागने की इच्छा जो कुछ भी है त्यागना या पाना कुछ भी नहीं है त्यागना ही त्यागना है त्यागते त्यागते त्यागते जो बचेगा अपना स्वरूप होता है बात इतनी है थूल शरीर को त्यागना विचार से सूक्ष्म को त्यागना कारण को त्यागना सब त्यागना है वेदांत पाना कुछ भी नहीं है पाया पाया स्वरूप है पा, पाते हुए भी न, न पाना जैसा होकर बैठा हुआ है यहां तो त्यागने का काम है अज्ञा से चित्त शुद्धिर्थम कर्म अज्ञान में चित्त शुद्ध के लिए कर्म है चित्त शुद्ध से जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है <clears throat> कर्म संन्यास है उसके कर्म का त्याग पहले कर्म करना बाद में त्यागना है कर्म का चित्त शुद्ध के लिए कर्म करना चित्त शुद्धि होने पर छोड़ देना उसको नदी पार हो गए नौके की आवश्यकता नहीं चित्त शुद्धि तो कर्म की आवश्यकता नहीं संन्यास कर्म संन्यास हो ज्ञान प्राप्त हो तो ज्ञान प्राप्त हो हेतु क्या है पहले कर्म बाद में कर्म का त्याग यदि आत्मज्ञान चाहिए तो हेतु यही है क्या हेतु है पहले कर्म करो चित्त शुद्धि के लिए चित्त शुद्ध होने कर्म को त्याग करो ये संन्यास मानी सारे कर्म का त्याग है इत्यत्र तो वाक्यांतर इस विषय में अन्य वाक्य भी है दो प्रकार की छठे अध्याय में भगवान ने कहा था दो स्नातक अवस्था और सिद्ध अवस्था आरूढ़ मनोयोगम कर्म कारण उच्चते योगारूढ़ से तस्व सम कारण उच्चते कहा था आरूढ़ अवस्था आरूढ़ इच्छु आरूढ़ उसमें जाना चाहता अभी पहुंचा नहीं है उस अवस्था में क्या कर्म कारण है जिसका हम से कर्म ये कारण बनता है हेतु बनता है और वही व्यक्ति जो आरूढ़ होता तस्व आरूढ़ वही आरूढ़ आरूढ़ अवस्था का था वही व्यक्ति जब आरूढ़ अवस्था में हो गया स्थिति प्राप्त हो गई उसको उसका समाकार कर्म को शांत करना त्याग यही कारण माना जाता है कर्म को हमेशा रखना भी नहीं है और करना भी है जब तक विषय शक्ति है चित्ता शुद्ध है तब तक करना है ये कहा हुआ है आरोप क्षोर मनोयोगम कर्म कारण इत्यादि कहा था योगस्थ से समय कारण जो योग में स्थित हो गया जब ज्ञान निष्ठा में पहुंच गया उस स्थिति में क्या होगा सम कर्म का शांत करना त्याग करना यही कारण है कहा ठीक है कहते आगे यथोक्त विभाग है साप्तविकम वाक्यम अनुगुणम इत्या दो प्रकार के माने साधक होते हैं एक आरूक्ष अवस्था वाले और आरूढ़ अवस्था वाले माने ज्ञानी और अज्ञानी तो इसके लिए सप्तम अध्याय में चार प्रकार के भक्तों की चर्चा हुई है उनमें से तीन को आरूक्ष अवस्था में रखा है और एक को आरूढ़ अवस्था में रखा है यही कहना चाहते हैं <clears throat> चतुर्विधा भजन देवाम जना सुकृत अर्जुना आत्म जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च सभा तेषा ज्ञान नित्युक्ता एक भक्ति विशिष्य थे प्रिय ही ज्ञान व्यक्तम अहम सतम प्रिय ये तो श्लोक में ऐसे दिखाया है सप्तमत्या में कहा सप्तमते कहा है उदारा इत्यादि कहा था उदारा सर्वे थे ज्ञानी तो ये तीनों तीन पहले वाले उदार हैं भगवान के सर्व में गए कैसे भी गए चाहे आर्त भक्त हो चाहे जिज्ञास हो चाहे अर्थात चित्रपति है गजेंद्र है और ध्रुव है एक एक दृष्टांत में आते हैं द्रौपदी आर्थ भक्त में आती है भगवान प्राप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं उसके अभी वो जो परिस्थिति थी परिस्थिति से निपटारा चाहती थी आर्त है किसी तरह से यहां सहयोग नहीं मिला उस स्थिति में भगवान पुकारने लग गई आर्त और गजेंद्र जो था वो भी आर्त भक्त में था तो गजेंद्र उपाख्यान अर्थवत्ता सब छोड़ के चले गए जब ग्राहक ने पैर पकड़ लिया उस स्थिति में सब जितने भी थे सब छोड़ के चले गए उस स्थिति में कोई नहीं है सहयोगी वो ग्राह से छुड़ाने के लिए उस स्थिति में ग्राह से छोड़ने के लिए भगवान ने याद किया उसने यह है और जिज्ञासु भक्त माने अक्रूर आदि थे उद्धव आदि थे जिज्ञासु भगवत तत्व को जानने की इच्छुक थे क्या है भगवान माने क्या है भगवान भगवान सब बोलते हैं क्या स्वरूप है भगवान का सविशेष है निर्विशेष है सविशेष है जो किस प्रकार का है निर्विशेष है तो किस प्रकार का है उसके अन्वेषण करने की इच्छा वाले जिज्ञासु होते हैं और ध्रुव थे धन चाहते थे अर्थार्थी थे और सौतेली माँ के वचनों से भगवान के भजन करें मधुबन लोग थे मथुरा के पास में मधुबन है हाँ की बात है तो भगवान ने हाँ। उनको समझा ये किस विषय में आया है राजा की गोदी में बैठना चाहते थे राजकाज चाहते थे भविष्य ही था किंतु सौतेली माँ ने उनको ऐसे वचन दे दिया बोला हम्म, इस इनके पास इसके इसमें रहना हो पिता की गोद में बैठना हो तो मेरे से जन्म लेना होगा सुनीति के जन्म से नहीं होगा मैं सुरुचि हूं मेरे नाम से होगा मेरे से कुछ में जन्म उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी मेरे पोट में जन्म लेने के लिए तो तपस्या करोगे तो भविष्य में आगे ये शरीर से तो ना अगले जन्म में मेरे शरीर में आओगे मेरे शरीर से पैदा करोगे राजा की गोद में बैठ पाओगे ऐसा होगा वो भगवान की गोद में बैठ चाहिए होता है यही लगा होंगे चलने वो विषय चाहते थे अर्थार्थी थे इत्यादि तो इसको कहा यथोक्त विभाग है साप्तों के वाक्य को माने अज्ञान अवस्था में कर्म है निष्काम कर्म है और ज्ञान अवस्था में क्या है ज्ञान निष्ठा में रहना है कर्म का त्याग करना है इसी वाक्य में सप्तम अध्याय की बात है तीन को तो उदार शब्द से बोल दिया जो भगवान के किसी भी तरह से स्तर जा रहे हैं उनको कृपण नहीं कर सकते उदार है वो ज्ञानी तत्व तो बोल दे ज्ञानी तो मेरे आत्मा ही है उनको उदार अनुदार बोलना नहीं होता अपने स्वरूप में नहीं होता वो ज्ञानी तो मामा आत्मा है मेरा स्वरूप ही है ज्ञानी ज्ञानी को अलग कर दिया ये तीनों को अपने से भिन्न करके कहा उदार है सब ठीक है नहीं तो ज्ञान तो मेरा स्वरूप ही है ऐसा करके लिया है और नवम अध्याय भी एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना गतागतम काम वाले बंदे का था कर्म करने वाले भी चर्चा है त्रय विद्या माम सोम पापूत पाप स्वर्ग यज्ञ दृष्टवा स्वर्ग प्रार्थयन थे ते पुण्यमा आते सुरेंद्र लोकम अस्तंत देवांति विदेव भोगान ते तम भुक्तम स्वर्गलोकम विशालम क्षय पुण्य मर्तलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गतागतम काम तीनों वेदों में विहित कर्म को त्रय विद्या कहा जाता है तीनों वेदों में जो विहित कर्म है एक दिशा मन उन कर्मों को करने वाले हैं ऐसे अज्ञान मीमांसक लोग हैं जो भी हैं वो लोग कर्म करते हैं तो यज्ञ के द्वारा भगवान मानी देवताओं की अर्जन करके स्वर्ग देव प्राप्त स्वर्ग लोग की कामना करते हैं स्वर्ग मिल जाए ऐसे कामना करते हैं और यज्ञ के फलस्वरूप क्या करते हैं वो स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं स्वर्ग प्राप्ति के बाद फल भोगने के बाद में फिर इसी लोग में आएंगे कर्म करने के लिए ऐसी स्थिति है तो जीवों की स्थिति प्राय यही होती है कुरुते कर्म भोगाय कर्म करते जो तो भिन्न जाते भूल जाते नद्या किटे वावर्तार आवर्तांतर मास पंचदश का विद्यानुसार ने जीव क्यों कर्म करता है कहते भोग करने के लिए स्वर्ग भोग के लिए कुरुते कर्म भोग आया भोग क्यों करता है स्वर्ग में क्यों भोग करता है कहते आगे कर्म करने के लिए जैसे एक मजदूर को पूछा जाए खाते क्यों हो तो क्या उत्तर देगा खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे काम कैसे करते हो पूछा जाए क्यों करते हो तो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या खाना काम के लिए काम खाने के लिए इनकी भी स्थिति ऐसी है कर्म कर रहा है स्वर्ग भोग के लिए स्वर्ग भोग रहा है वो स्वाद मिल गया कर्म करने से स्वर्ग मिला और फल समाप्त हो गया जैसे दूसरे दिन मजदूर फिर काम में लग जाता है फिर कर्म करेंगे यहां ना फिर कर्म किया कुछ हो गया गए स्वर्ग फिर ये चलता है गतागतम काम काम होते थे विष्णु को चाहने वाले लोग हैं जाना आना ये करते रहते हैं ये कहा हुआ है नवोद्यान कहा एवं त्रयी धर्मम इत्यादि कहा था इत्यादि नाविकम वाक्य जो नवोध्याय के वाक्य है अविद्युत विषय कर्म इत्यत्र प्रमाणित है अज्ञानी को विषय करता कर्म ये वाक्य यही प्रमाणित करता है जो गतागत है आने जाने कर रहे हैं बार बार ये कहा अज्ञा इत्यादि भाषा में कहा था इसको अज्ञा कर्म रहो जो अज्ञानी है कर्मी है वह गतागतम काम काम वाला बनते कर नवोदय कहा है जाना आना यही होता रहता उनका आगे टीका बोलते हैं विदुष संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा ज्ञानी के तो क्या होता है संन्यास कर्म संन्यास पूर्व ज्ञान निष्ठा होती है किसकी आत्मवेत्ता की विदुषा जो आत्मविद्या है ज्ञानी है उसका संन्यास पूर्व का ज्ञान निष्ठा तत्र इसी विषय में नाविभकम वाक्य इसमें भी नवो अध्याय वाक्य है अनन्यास चिंतन तो व्यजना परिपास देते सामने अभियुक्तान वहा में नवो अध्याय के वाक्य दिया भगवान ने ये उदाहरण दिया यहाँ अनन्य भाव से अभिन्न भाव से तो मेरे भजन कर रहे हैं अनन्या नवित्य थे अन्यो यशाम थे अनन्या जो भक्त मेरे ऐसे हैं अनन्य भाव से अभिन्न भाव से भजन कर रहे हैं हम ब्रह्माष्टमी भाव में भजन कर रहे हैं ऐसे चिंतन जो करते हो जो भक्त लोग हैं अनन्य चिंतो माम ये जहां पर परिता उपास है हर प्रकार से मेरी उपासना अनन्य भाव से करते हैं जो लोग कैसा अमृत निरंतर मेरे में जुड़े हुए लोग हैं वो लोग अभिन्न भाव से जुड़े हैं योगक्षम भाव में उनके लिए जीवन के पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है इतना मैं बहन करता हूं योग अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करवाना और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना दोनों काम लेना है उसके लिए उधर चिंतन करने की जरूरत नहीं क्या होगा कैसा होगा माना प्रारब्ध का दिन बैठ जाए वो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं उसके जीवन के लिए ये भगवान ने कहा कहा माम इत व्याचष्ट अनन्या चिंतो माम में जो माम आया तो माम से क्या लेना हुआ अस्मत शब्द का प्रयोग है सविशेष है निर्विशेष है क्या है तो कहा यथोक्तम इत्यादि वासनों का माम प्रार्थना का यथोक्तम आत्मान आकाशकल्पम माम का अर्थ है कैसा है आत्मा पूर्व में जो आत्मा के स्वरूप वर्णन था आकाश के समान निर्विशेष आकाश के स्वरूप से विस्तार नहीं हाथ पैर आदि कुछ नहीं है आकाश में स्वाभाविक भी नहीं है निर्वय है जैसा है आकाश अकल्पम अकल्पसम पाप रहित निष्पापम पाप रहित उपासते ऐसे आत्मा की उपासना करते जो लोग अनन्या सिंह माम कहते यह है आगे टीका में कहते हैं तेसाम सत्यता नाम दसवा अध्याय की बात है निरंतर मेरे कीर्तन भजन आदि में लगे हुए हैं सत्यता नाम भजताम पीड़ित पीड़ित पूर्वकम मेरे प्रेम पूर्वक भजन कर रहे हैं मेरा देखा हुआ के लिए नहीं निष्ठापूर्वक भजन कर रहे हैं ददामी बुद्धियोगम तम बुद्धियोगम ददामी उस बुद्धियोग को दूंगा मैं मानी ज्ञान योग बुद्धियोग मानी ज्ञान योग एरमाम उपयान देते जिस ज्ञान युग से ये लोग मेरे को प्राप्त करते हैं ऐसा भगवान ने दसम अध्याय में कहा है कहा तेसाम सदुक्ता नाम यदि इत्यादि दासमेकम वाक्यम जो दसम अध्याय में आने वाले वाक्यों को दास में कहा है तत्र को प्रमाण उसे ज्ञानी में ज्ञानी के लिए प्रमाण दिया क्या दिया ददामी बुद्धियों कम तद इत्यादि कहा है एरमाम उपयान विद्या बता में भगवत प्राप्ति साथ यहां इन श्लोकों में क्या ज्ञानी को ही माने भगवत भगवान की प्राप्ति के निर्देश किया इन श्लोकों में ये दिखाता है ज्ञान ही भगवान को प्राप्त करता है दिखाने से इतर ऐसा जो भगवत भक्त नहीं है जो कर्म के भक्त है देवताओं के भक्त हैं अमो मेजा अमो मेजा इत्यादि लगे उसके याद करो उसके याद करो ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा तो, तो विद्यावताम एवं भगवत पर ये पूर्वोक्त श्लोकों के द्वारा जो दिखाया है उतर दिया यहां तो इन श्लोकों से ज्ञानी को ही भगवत प्राप्ति के निर्देश उपदेश होने से इतर शाम जो अज्ञानी है इतर शाम तद अप्राप्ति भगवत स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी यदि सूचिता यह सूचित कर दिया भगवान ने यहां ये तत् अर्थ सिद्धम अर्थ महा इस अर्थ से सिद्ध क्या अर्थ आया तो बोलते हैं अर्थात न कर्मणो अज्ञा दिया ही है ये नम आप उपयान उपयांतिते कहा था दसम अध्याय भगवान ने जिसके द्वारा जिस बुद्धियों के द्वारा गुरु प्राप्त करते कहा था वह अज्ञानी प्राप्त नहीं कर बुद्धियोग प्राप्त नहीं कर सकते ये रमा याद कहा था अर्थात अर्थ से आया न कर्मण अज्ञान ज्ञानती यही होगा जो कर्म है अज्ञानी है वो मेरे को प्राप्त नहीं कर भगवत स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते वो तो देवता आदि बनना है ईश्वर का रहा इत्यादि काम करते हैं गतागत होंगे इत्यादि कहा आगे शंका है ननो भगवत का कर्मकारिणा भगवान के जो कर्म करने वाले लोग हैं माने एकादश अध्याय के अंतिम में कहा था मत कर्मकृत मत पर्वो मत भक्त संगवर्जित निर्भय सर्वभूतेशु कैसा मानवित पांडव भगवान ने अंतिम में ये कहा था श्लोक एकादश अध्याय में उसको लेकर के अर्जुन का प्रश्न है द्वादश अध्याय में यही इसको लेकर शंका है यहाँ जो भगवान के लिए कर्म करते हो मत कर्मकृत मत परम मही ही पराय परम गति हूं जिनकी ऐसे समझ के बैठे हैं मत कर्मकृत मत पर्व मत भक्त मेरे ही भक्त हो जो आत्मभक्त हो संघ वर्जिता संघ से रहित हो इसे शक्ति आदि जो संघ है उनसे रहित हो निर्भय सर्वभूतेश सारे प्राणी मात्र में बैर रहित हो या ऐसा जो या जो ऐसा है स माम लेती वो मेरे को प्राप्त करता है ऐसे भगवान ने कहा हुआ है एकादश अध्याय के अंतिम श्लोक में उसको लेकर अर्जुन का प्रश्न आता है इसको लेकर पूर्व पक्ष है नो भगवत कर्मकारिणाम युक्त तमत्वाद कर्मिणों की भगवंतम यान्ति द्वादश अध्याय के शुरू में अर्जुन ने प्रश्न किया था एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तम परिपाश थे एकताप्यम अक्षर अव्यक्तम के सामते युक्ततम अमता इत्यादि कहा था युक्ततम कौन है दोनों में उत्तम भक्त कौन है जो इस प्रकार के आप ले कर्म करें पूर्व श्लोक में जो कहा एकादश अध्याय के अंतिम में मत कर्म के लिए मत पड़ो कहा था इस प्रकार जो आपके लिए कर्म करते हैं आप पारायण है जो एक ये है दूसरा जो अनिर्देश जिसका वाणी से कथन नहीं हुआ मनवाणी की गति नहीं जहां निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला निर्विशेष ब्रह्म है उसके जो भक्त हैं उनमें से युक्ततम यद्यपि दोनों युक्त हैं मतलब दोनों अच्छे हैं भगवान के भक्त हैं चाहे वो निर्विशेष को चाहे सविशेष को पूर्व स्वरूप में सविशेष को दिखाया हुआ है एकादश अध्याय के अंतिम में क्योंकि वो विश्वरूपा अध्याय है विश्वरूप दिखाया हुआ दर्शन है उसी को लेकर कहा हुआ होता है तो सविशेष उपासक और एक निर्विशेष उपासक उनमें से युक्ततम कौन है युक्त तो दोनों है भगवान के भक्त हैं दोनों किंतु युक्ततम कौन है ये अर्जुन का प्रश्न था एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तम परिपाश रहे ये चाप्यक्षर मध्यक्तम तेसाम के योग एवं वित्तम युगवित्तम कौन है यह पर का प्रश्न था उसके उत्तर में भगवान कहना है इसको लिए शंका है यहां नो भगवत कर्मकारिणाम जो भगवान के लिए कर्म करने वाले हैं चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो दोनों युक्तमत्वात दोनों के दोनों युक्तम होने से कर्मणोपी भगवतम यान्ति कर्म भी तो भगवान को प्राप्त करेंगे भगवान को तो प्राप्त करें कर्म भी भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं तो भगवान को प्राप्त करेंगे केवल ज्ञानी के लिए क्यों कहा ददामी बुद्धि योगम यमाम उपयांति थे क्यों कहा दसम अध्याय जिसके द्वारा मेरे को प्राप्त करेगा क्यों कहा ये प्रश्न आया तो कहते हैं भगवत कर्मकारिणो ये युक्तमा अपनी भगवान के कर्म करने वाले जो है युक्ततम होने पर भी वहां भगवान ने उत्तर दिया है कि मैया मैया ये माम नित्य उपासत श्रद्धया पर युक्त तेषाम युक्ततमा बता ते में होता है साहब तो जो कहा मेरे में आविष्ट करके मन को आविष्ट करके अन्यत्र मन नहीं है जिनका मैयावेश मनो ये मां मेरे में प्रवेश करा के मन को निरंतर चिंतन मेरे ही करते हैं जो लोग ऐसा है मैयावेश मनो ये मान नित्य उपता निरंतर मेरे उपासना में लगे हैं चिंतन में लगे हैं उपासना में चिंतन मानसिक कर्म है तो श्रद्धा या परम श्रद्धा से युक्त होता होते हुए देखा हुआ के लिए नहीं परम श्रद्धा से युक्त होते हैं ते में उत्तम होता है यही लोग मेरे लिए उत्तम होते हैं कहा था मैंने ये भगवान ने कहा है भगवत कर्मकारी लोग भगवान के लिए कर्म करने वाले जो लोग हैं ये आप ही भगवान कहते युक्ततम होने पर भी वो युक्ततम तो है अतिशय श्रेष्ठ है होने पर भी कर्मणों अज्ञा फिर भी कर्मी है वो अज्ञानी है अभी हो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं निष्काम भाव से ईश्वरार्थ प्रवृत्ति से कर्म कर रहे हैं फिर भी आप अज्ञानी है के क्यों अज्ञानी कहा उनको कहते हैं आगे जो फलवाक्य दिखता है इनका क्या दिखता है मैया ये माम हाँ। बुधिर मई बुद्धि निवेश है मैया व्यसमन पार्थ मैया व्यसमन पार्थ मई बुद्धि निवेश निवेश मई तो अतूर्तम न से यह श्रेष्ठ साधन बताए पहले मेरे में मन लगाने वाले हो मेरे में बुद्धि लगाने वाले हो ऐसा हो जाओ तो क्या होगा मेरे में बैठोगे तो भगवान उसे नीचे उतर के बोलते आप अथ चित्तम समाधा तुम न सपुरुष वही स्थिरम यदि चित्त मेरे में एकाग्र नहीं कर सकते हो आवेश नहीं कर पाते हो तो क्या करना अभ्यास योग वहां भी स्थापना बन जाए अभ्यास रूपी योग करो बार बार लगाओ मन को उसके द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा करो अथई सब तो यदि चित्त बार बार लगा अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो नीचे नीचे उतर के बोलते हैं भगवान इन जो आप भगवान के कर्म करने वाले कर्म के लिए बोला क्या बोलते हैं अथ चित्तम समाधातम न स्वप्न फिर अभ्यास तो वहां भी सबको धारण देगा अभ्यास भी समर्थ हो सी यदि अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो मत कर्म कर्म परमो भगवान मेरे कर्म को परम मान करके मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ ऐसा फिर कहा कि वो भी नहीं कर सकते हो तो कहते हैं सर्व कर्म फल त्याग गुरु यथात्मवान इत्यादि है कर्म का फल त्याग करने उत्तर उत्तर को श्रेष्ठ बता देगा भगवान नीचे छोटे छोटे साधन है ये नहीं कर सको तो ये करो ये नहीं कर सको तो ये करो इनके लिए कहा हुआ है जो कर्मियों के लिए ये यही कहते हैं यहां भगवत है जो भगवान के लिए कर्म करने वाले ये युक्ततम अभी यद्यपि युक्ततम है वो भगवान के लिए कर्म करने वाले कोई छोटे नहीं होते बड़े माने जाते हैं फिर भी कर्म जो कर्मी है उनका अज्ञा हो अज्ञानी है अभी क्यों आगे के जो साधन बताए उसे पता लगता है द्वादश अध्याय ते उत्तर उत्तर हीन फल त्याग अवसान साधना कहते हैं ये लोग कैसे हैं आगे आगे जो छोटे छोटे साधन है नीचे नीचे उतर करके साधन बताया है भगवान ने ऊपर ऊपर के साधन की अपेक्षा उत्तर उत्तर न फल त्याग फल का त्याग को कहा हुआ है अंतिम कर्म फल का त्याग करो कहा हुआ है ये साधन वाले होते हैं कर्मी लोग ऐसे साधन वाले और जो अनिदेश्य अपरोक्ष उपासकास्तु कहते हैं अनिदेश्य अक्षर उपासक आस्तु जो अनिदेश्य जिसके बारे में मन वाणी काम नहीं करती वाणी से कहा नहीं जा सकता ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्त मनसा सह इत्यादि है जहां मनवाणी पहुंच नहीं सकती है ऐसे स्थान में जो तत्व है अनिर्देश्य है न निर्देश तुम सक्य थे अनिर्देश्य जिसका निर्देश करना संभव नहीं है वाणी से कहना संभव नहीं है अवांग मनुष्य गोचर है जो तत्व है निर्विशेष आत्मा ऐसे जो अक्षर का उपासक लोग हैं उनके लिए साधन अद्य प्रकार का बताया आगे क्या बताया अध्याय समाप्ति तक अद्वेष्टा सर्वभूता न मैत्री कर्ण निर्भो अहंकार समुद्र का सुख यहां से लेकर के अध्याय की समाप्ति तक उनके आचरण बताए तिरगे जो अक्षर उपासकों के आचरण बताइए और त्रयोदश अध्याय में जो ज्ञान के साधन बताया ऐसे ऐसे ज्ञान के साधन उनके पास ये साधन होते हैं तेरे पास अक्षर उपासक के साथ इत्यादि और चतुर्दश अध्याय में गुणातीत की चर्चा की वहां ये भी साधन बताया उनको पहले तो द्वादश अध्याय में तो आचरण बताया अक्षर उपासकों का अद्वस्ता सर्वभूतान मैत्री करण इत्यादि के द्वारा और त्रयोदश अध्याय में ज्ञान की साधन बताया है और चतुर्दश में गुणातीत होने की साधन बताया किस तरह से गुणातीत होता है और पंचदश अध्याय में ऊर्धमूल पद शाखा आदि के द्वारा ला करके असंग शस्त्र में दृढ़ सागर को छीटने का तथा पदम तत्व संसार को काट करके संसार वृक्ष को काटकर उसके बाद उसको अन्वेषण कर चाहिए उस परम तत्व का इस प्रकार के तीन साधन उन अक्षर उपासकों के लिए कहा हुआ है त्रयोदश अध्याय में चतुर्दश अध्याय में पंचदश अध्याय में द्वादश अध्याय में उनके आचरण दिखाई अध्यक्ष आदि के द्वारा ये कहना है ये ये साधन वाले जो होंगे कहते एक तो वो हो गए उत्तर उत्तर हीन फल त्याग वाला साधन वाले और कर्मी हैं जो युक्ततम होने पर भी और दूसरे निर्विशेष उपासक कैसे होते हैं अनिर्देश्य अक्षर उपासकास्तु अद्वेष्टा सर्वभूता नाम इत्यादि अध्याय परिसमाप्ति उत्साह तो पूरे अध्याय की समाप्ति तक द्वादश अध्याय के अंत में अध्यष्टा से लेकर के ये साधन वाले होते हैं क्षेत्राध्याय क्षेत्राध्याय आदि अध्याय त्रय उक्त ज्ञान साधना से क्षेत्राध्याय क्षेत्राध्याय होता है त्रयोदश अध्याय वहां से लेकर तीन अध्याय त्रयोदश चतुर्दश और पंचदश अध्याय उसमें कहा हुआ ज्ञान साधना वाली किसके साधन ज्ञान के जो साधन जिनके पास है अमानित्व मधुमित्व आदि त्रयोदश अध्याय की चर्चा है नत्व तो आदि जो बीस गुण बताया हुआ है आत्मज्ञान के प्राप्ति के साधन नहीं होते हैं अमानित्व आदि जो बीस गुण हो तो आत्मज्ञान होगा नहीं तो आत्मज्ञान होगा नहीं वहां ज्ञान शब्द रहता साधन ज्ञान के साथ ज्ञाते भी ज्ञान ज्ञान जिससे जाना जाता है साधन से साथ जाना जाता है तो इसलिए ज्ञान कहा गया है वहां तो क्षेत्राध्याय यदि अध्याय त्रयुक्त ज्ञान साधना आशा क्षेत्राध्याय त्रयोदश अध्याय से लेकर तीन अध्याय में कहा ज्ञान के साधन वाले होते हैं लोग कौन लोग जो अनिर्देश उपासक होते हैं और अधिष्ठान आदि पंचहेतु कर्म सर्वकर्म सन्यासी नाम जो सारे कर्म पांच कारणों से होते हैं अधिष्ठान तथा कर्ता कर्म तो पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैव से रात्र पंचम ऐसा माने कोई भी काम करते पांच साधन बनते हैं सुभाष कोई भी कर्म करता हो पान अधिष्ठान शरीर चाहिए कर्म करने वाला जो आत्मा होगा उसके लिए शरीर अधिष्ठान होता है शरीर के बिना कर्म नहीं कर सकता तथा कर्ता कर्ता करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए कारण से पृथक विदम नाना प्रकार के इंद्रियों की भी आवश्यकता होगी कर्म करने के लिए देखना है सुनना है कौन सा कर्म करना है भिन्न भिन्न इंद्रियों का प्रयोग होगा कारण से पृथक विविधा से पृथक चेष्टा और भिन्न भिन्न प्रकार के जो व्यापार एक ही व्यापार रूप देखने का व्यापार अलग रस रस लेने का व्यापार अलग शब्द सुनने का व्यापार अलग भिन्न भिन्न पृथक चेष्टा दैवम मतलब जो इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देवता होते हैं उपकार करने वाले जो आदित्यादि देवता उनके बिना भी कर्म नहीं हो पाएगा वो भी पांचवा कारण वो भी है पांच कारण से कोई भी कार्य होता है शुभाशुभ कर्म के लिए पांच कारण होते हैं तत्र तत्रैवम सतिकर्तारम आत्मान होते थे अष्टात सत्या की बात है उस स्थिति में जो पांच मिलकर के होता है कर्म केवल अपने को ही जो कर्ता मान बैठा हो मैं ही करता हूं उस कर्म का तत्र सत्यकर्ता सतकर्तारम आत्मान केवल केवल आत्मा को ही कर्ता मानता हो तो पश्चित कृतबुद्धित्व न पश्चित व्यक्ति तो ऐसा जानता अपने को कर्ता रूप में देखता है जो व्यक्ति वो दुर्पति है जानता नहीं है वास्तव में पांच मिल के होता है कर्म अपने अकेले को कर्ता मानना उन कर्मों का तो दुर्मति है दुष्ट बुद्धि वाला है ऐसे भगवान बोला है अष्टादश अध्याय में ये कह रहे हैं आदि पंच हेतु का सर्वकर्म सन्यासी गांव हाँ कहा जो आदि पांच हेतु से होने वाले सारे कर्म थे सुभाषु कर्म थे उसको सन्यासी त्यागी हैं जो लोग कौन अक्षर उपासक जो लोग हैं सन्यासी नाम हाँ। आत्मिकत्व अकर्तृत्व ज्ञान होता है आत्मा को एकत्व देखने वाले दृष्टि में देखना जिनका स्वरूप बना हुआ स्वभाव बना हुआ है आत्मा एकत्व आप में है भिन्न भिन्न आत्मा नहीं जानते जो कौन अक्षर उपासक लोग और अकर्तृत्व ज्ञान होता है आत्मा में एकत्व देखते हैं और कर्तृत्व का अभाव देखने वाले हैं ऐसे ज्ञान है जिनके पास एकत्व और अकर्तृत्व ऐसे ज्ञान वाले हैं उनका परस्याम ज्ञान निष्ठा परम ज्ञान निष्ठा में बैठे हुए जो लोग हैं अक्षर उपासक लोग अवैध भाव से उपासना कर रहे हैं वर्तमान परश्याम ज्ञानिष्ठान परम जो ज्ञानिष्ठा उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनका क्या अक्षर उपासक हो रहा है भगवत तत्व विधान भगवान के स्वरूप को जानने वाले भगवान के स्वरूप को जानते हैं पहले वाले जिज्ञासा आदि को लेकर कर्म कर रहे थे अनिष्टादि कर्म फल त्रयम जो अनिष्टादि तीन प्रकार के जो कर्म का फल होता है इसे अष्टादश अध्याय में कहा था अनिष्ट मिश्रम मिश्रम च त्रिविधा करुण फलम भगवत त्यागी नाम प्रत्यय रथ त्याग सन्यासी नाम क्वचित ऐसा कहा था कर्म का फल खट्टा मीठा विस्तृत तीन प्रकार का होता है ऐसा कहा था शुभ कर्म का फल मीठा होगा स्वर्ग आदि भोग न मिलेगा अशुभ कर्म का खट्टा नहीं आदि भोगना पड़ेगा एक विस्तृत कर्म होते जिसे मनुष्य आदि बनना है तीन प्रकार कर्म का फल होता है अनिष्टम इष्टम विश्रम से त्रिवेदम कर्मणा फल है तीन प्रकार के कर्म का फल होता है कर्म त्रिवेदन फल भवत्य त्यागी नाम प्रत्यय अनुसन्य जो अत्यागी नाम प्रत्यय भवती मरने के बाद उनको तीन प्रकार के फल मिलेगा किसको तो अत्याधिक को जो कर्म को त्याग नहीं पाया न तो सन्यासी नाम को जो कर्म के त्यागी है उनके नहीं तो तीनों प्रकार के फल नहीं है ये कहा हुआ था ये कहते हैं अनिष्ट आदि कर्म फल त्रय जो इष्ट अनिष्ट और मिश्रित जो कर्म का तीनों फल ऐसे लोग जो होंगे त्यागी नाम फलत्रयम परमंश प्रयोगवाचिका नाम जो ये कर्म का फल उनको नहीं होगा बोला चाहते किनको से जो परिव्राजक हैं जो अक्षर के उपासक हैं ये सारे विशेषण जिनका दिया जिनके लिए दिया लब्ध भगवत स्वरूप आत्मा ही नाम लाभ कर प्राप्त कर लिया है भगवान के स्वरूप स्वयं अपने रूप से प्राप्त कर लिया हम ब्रह्माष्ट भाव में पहुंचे हुए हैं न भगवती किम किम न भगवती अनिष्टादि कर्म फल त्रय न भवती उनके लिए जो अनिष्ट इष्ट मिश्र कर्म का फल नहीं होता का अनुभव में अनिष्ट अनिष्टादि कर्म फल त्रम न भवती उन लोगों को नहीं होगा सारे षष्टंत्र लगा करके विशेषण चढ़ा दिया अक्षर उपासकों का ये तीनों प्रकार के कर्म फल उनको नहीं होता और भगवती एवं अन्य अन्य को तो अज्ञान जो अज्ञानी है आत्मभाव में नहीं पहुंचे उनके लिए तीन प्रकार का कर्म फल भोगना पड़ेगा भगवती अन्य अन्य को होगा कौन अज्ञान जो अज्ञानी है आत्मवेत्ता नहीं उनके लिए कर्मिणाम जो कर्मी है कर्म कर रहे हैं उनके लिए तो भोगना पड़ेगा और सन्यासी नाम जो कर्म के त्याग नहीं सके इन लोगों को होगा ही कहा यह गीता शास्त्र से उक्त से कर्तव्य कर्तव्यता से विभाग ये गीता शास्त्र में कहा गया कर्तव्य और कर्तव्य माने एक के लिए कर्म कर्तव्य है एक के लिए अकर्तव्य है किसके लिए कर्तव्य है अज्ञानी के लिए अज्ञानी के लिए अकर्तव्य है ये गीता शास्त्र में कहा गया विषय यही है ये कह दिया अभिगत है अविद्या पूर्वकत्व सर्वस्व कर्म असिद्ध पूर्वादि बोलता हमारा शास्त्रीय कर्म जो होगा हम्म, तो अशास्त्रीय कर्म तो अविद्यापूर्वक हो गया ये तो शास्त्रीय कर्म जो होगा शास्त्र में कहा हुआ कर्म है वो तो अविद्यापूर्वक मानना ठीक नहीं अज्ञान पूर्वक ही कर्म होता है आप कह रहे हैं तो अज्ञान पूर्वक कैसे वो तो ज्ञान जान करके होगा शास्त्रीय कर्म ये पूर्वादि की शंका है मीमांसा पूर्व से अविद्या अविद्या पूर्वक ही सारे कर्म हैं ऐसे भाष्यकार ने पूर्व कृष्ण में कहा था अतः अविद्या पूर्व से कर्म हो विद्या विद्या एवं सुभाष व छह कारण अशेष तो न नित्य कर्मानुष्ठान कहा था चौबीस पृष्ठ में कहा गया था उसी को यहां पूर्व पक्ष लागे बोल रहा है उसको तो अविद्यापूर्वक को नहीं कहना शास्त्रीय कर्म को नहीं कहना चाहिए सारे कर्म अविद्यापूर्वक नहीं शास्त्रीय कर्म छोड़कर बोलना चाहिए अविद्यापूर्वक ये मीमांसा कह रहा है अविद्यापूर्वक तुम सर्वस्व कर्म असिद्धम सारे कर्म असिद्यापूर्वक अविद्यापूर्वक है ऐसा सिद्ध नहीं है यदि चेत ऐसा बोले तो सिद्धांत न हाँ। अरे बाबा ब्रह्म हत्या शास्त्रीय है कि अशास्त्रीय है शास्त्रीय है शास्त्र में आया है निषेध वाक्य में आया हुआ है ब्राह्मण हंतव्य वो कर्म क्या होता कि नहीं होता होता है किससे होता है अविद्यापूर्वक है शास्त्रीय कर्म भी अविद्यापूर्वक है जैसे ब्रह्म हत्या भी करता है व्यक्ति अज्ञानी है अपना स्वरूप का ज्ञान होता तो ब्रह्म हत्या नहीं करता ब्रह्म हत्या कर रहा है निषेध कर्म है ब्राह्मणों ने अंतव्य वाक्य सुना हुआ है फिर भी कर जाता है राग द्वेष के कारण वो कर्म कर जाता है राग द्वेष कब होता है अविद्या काल में होता है सारे कर्म अविद्या पर हो गए शुभाशुभ जो भी कर्म होता है अज्ञान काल में होते हैं आत्म आत्मभाव काल में कोई कर्म होना संभव नहीं है एक कहते सिद्धांत हाँ। शास्त्रीय कर्म भी अविद्यापूर्वक अभी जब अज्ञान काल में है कर्म देहाभिमान पूर्वक है देहाभिमान पूर्वक है ब्रह्म हत्यादि जैसे ये दृष्टांत है जैसे ब्रह्म हत्यादि होते हैं कि नहीं होते हाँ तो भाव में गया होता तो होता शास्त्रीय है मैंने शास्त्रीय क्या है निषिद्ध कर्म में आता है न करे शास्त्र में विहित है ना शास्त्र में है निषिद्ध निषिद्ध किया शास्त्र में निषिद्ध किया है अशास्त्रीय थोड़ी माना जाता है उसको निषेध किया है शास्त्र में यद्यपि शास्त्र शास्त्रावगतम नित्यम कर्म है नित्य कर्म भी यद्यपि शास्त्र से जाना हुआ है ठीक है तथापि फिर भी अविद्यावत भगवती भगवती नित्य कर्म भी अज्ञानी भी होता है ज्ञानी को नहीं हो सकता आत्मभाव में जो पहुंच चुका है वह कर्म होना संभव नहीं है देहाभाव में है तो नित्य कर्म कब करता है देहाभाव में करता है मैं ब्राह्मण आदि वर्ग हूं मैं ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वाला हूं ये सारे आरोप करके करता है अज्ञान काल में है तो शास्त्रीय कर्म भी सब कह अज्ञान काल में ही है ज्ञान काल में कोई कर्म नहीं हो सकता आत्मभाव में पहुंचने पर कोई कर्म नहीं हो सकता ये कहा टीका से फिर देखेंगे समय हो जाएंगे ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा